त्रिपरी भाषा वर्तते न वा तदेव पश्यामि अहम् यदा शरीरेण सह आत्मना संयोगो भवति हम्म। तदा तस्य जन्म इति उच्यते तर्हि तदेव पृच्छामि तर्हि अजाया जन्म जात जातम न वा अजाया अजाया साधक माम आ गए बहुत आम साधक अच्छा महोदय भवताम कदापि उष्ट्रस्य जन्म जाता न वा तो ना सिद्धांत रूपेण तो अवश्य जन्म हम्म? उदय महोदय भवतः सर्पस्य जन्म जातं न वा कदापि न जातम् केन हेतुना प्रमाणं किम् तस्य आत्मनः जन्म तु न भवति भवान् तत् तस्यां ये भ्रान्त भ्रान्त्यां पतित येन रणवीरमहोदय पतिता यस्याम् वक्तुरभिप्राय आकांक्षा योग्यता आसक्ति तात्पर्य ये तात्पर्यं न जानाति स किं वदति विपरीतं वदति भवान् एव ज्ञापयतु भवतः कदापि गदस्य जन्म जातम न वा केन हेतुना यतोहि जीवात्मनः कर्माणि अनन्तानि असङ्ख्यानि पुनः जीवात्मनः आयुरपि नास्ति हम्म। अनादित्वात् हम्म। अनेन असङ्ख्यातानि कर्माणि कृतानि तेन हेतुना तत् जन्म अपि जन्म जन्मानि अपि अस्तु गरुड़देव महोदय भवान् ज्ञापयतु भवतः कदापि मुक्ति जाता न वा जाता बहुवारं जाता मुक्ति भूभारं कतिवारम् एतद् ज्ञानं नास्ति कतिवारम् अनन्तवारं साधकमावादे बहुत है मुक्ति जाता भी ना हुआ कदापि सिद्धांत रूपेण हम्म? तो कर्म हम ना जाना मुक्ति आहुत है एवं इतनी सिद्धमस्ती है सिद्धांत रूपेण तो सिद्धमस्ती तो हाँ। तरी एवं वाच्यम सिद्धांत रूपेण तो सिद्धमेव पर कदा भूत मुक्ति ये तद न जानामी संदीप महोदय ज्ञापयिष्यति कदापि ईश्वरेण सह वार्तालापम करोति न वा भवान् अद्यत्वे रणवीर महोदय कथं करोति भवान् यथा तेन सह यदा प्रार्थनां करोमि हम्म। तदा अहं तेन सह वार्तां करोमि कथं करोति भवान् यथा उदाहरणं हे भगवन् हम्म। भवान् मह्यं बुद्धिं बलं च हम्म। प्रदास्यति तदा अहं भवतः तत् यत् कार्यमस्ति वेदप्रचारस्य वा एवं योगस्य वा तद् सम्यक् रूपेण अहं कर्तुं शक्नोमि यदि कश्चन न जानीयात् कथं वार्तालापं विधेयं तर्हि यद प्रतिदिनम इदं पठ्यते न वेद मंत्र से व्याख्या क्रियते न वा यथा स्वामी दयानंद महाभाग है यथा वदती यथा लिखती यथा वार्तालापम करोती श्रेण से न अनुभूय थे प्रार्थना में स्तुति वा उपासना में यथा करोती वेद व्याख्यायाम करोती न वा मध्यम पुरुषेण वार्तालापम भवती न वादत्र वेद व्याख्यायाम महर्षि सरस्वती ही सह से वार्तालापम न वा तो भगवान वार्तालाप करणे पश्यति किम ईश्वरात् भगवान ईश्वरेण सह वार्तालाप करने दृश्यति किम विभेति किम है विभेति इति रूपम कठिनम दृश्यति इति रूपम सरलम यथा भवती भवती भवती रूपम भवती तथेव दृश्यति रूपम भवती पश्यति बिभेति यद यद रूपम सरलम तद तत् व्यवहारे आनेतव्यम किम अवगतम यद यद रूपम सरलम तत् व्यवहारे आनेतव्यम देव महाभाग है भगवान किम शृणोति अब संस्कृत संभाषण को बंद करते हैं और अब दूसरी बात प्रारंभ करते हैं दिन लिंगलकार कहाँ होता है इसमें संशय उभरा था तो उसके उस विषय में विचार करने के पश्चात परिणाम ये निकला कि जो लिंगलकार है वो भूतकाल में भी होता है और भविष्यत काल में भी होता है क्या परिणाम निकला लिंग लकार का प्रयोग भूत एवं भविष्य दोनों में होता है ये परिणाम और एक शब्द और आया था प्रयोग में किंचित कश्चित किंचित एक कंचित दो कश्चित तीन कुछ काल तक हम संस्कृत में वार्तालाप करेंगे ये वाक्य हमने बनाना है संस्कृत में रणवीर जी क्या बोलोगे किंचित काल पर्यंतम वयम संस्कृत भाषायाम वक्ष्याम तो वह किंचित भविष्यति एक वार्ता और कश्चित भविष्य द्वितीय वार्ता और कंचित भविष्य तृतीय वार्ता साधक माँ भागे पुरुषलिंग है हाँ जी प्रस्तुते वाक्ये कालस्यानन्तरं यदि पर्यन्तं नियोज्यते हाँ। तर्हि किञ्चिदेव युक्तम् इति मन्ये अस्तु अन्यच्च मम दृष्ट्या कंचित काल पर्यंतम इदम भवे पुनर अपि इदम वाक्यम विचारणीयम यथा साधु तथे अच्छा अब एक प्रयोग प्राणायाम करने से कितने क्या कुछ लाभ होते हैं उनमें एक जो हमारे शरीर में इचकी उठती है क्या समझे क्या बोलते हैं उसको हिक्का संस्कृत में हिक्का और हिंदी में हिचकी क्या बोलते हैं हिचकी तो वो आने लगती है हिचकी आने लगती है तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं अभ्यंतर प्राणायाम करते हैं एक बार दो बार जैसे तीन बार तो तत्काल बंद हो जाती है क्या समझ में आया की जो उठती है हम्म, हम्म। तो उसको रोकने के लिए जब हम आप तरफ प्राणायाम करते हैं दो तीन बार हम्म। तो वो रुक जाती है हिचकी समझ में आया नहीं आया बोली अपने दैनिक व्यवहार में भी हिचकियाना तो ऐसे रुक सकती है ऐसे ही रुक जाती है एक हिचकी ऐसे हो सकती है जो अति उग्र हो विकृत अति हो वो सभी कालों में रुक जाती है मैं ऐसा नहीं कहता एक सामान्य स्थिति पर रुक जाती है और यदि सभी कालों में रुक जाती है तो वो प्रयोग तो करके देखने से पता चलेगा सभी प्रकार की हिचकी भयंकर लंबी इत्यादि सामान्य रूप से जो हिचकी उभरती है वो प्राणायाम करने से समाप्त हो जाती है कुछ समझ में आया नहीं यार हिचका हम्म? रोग है वो दूर हो ये निश्चित नहीं है उसके विषय में परीक्षा की आवश्यकता है जो रोग चलते हैं लंबे हिचकी के वेद मुनि जी क्या समझ में आया जो रोग चलता है आवश्यकता है इचकी हिचकी जो उभरती है उसको हमें अभ्यंतर प्राणायाम से रोक देते हैं ये प्रयोग करके देखे जाते हैं तब बताया जा रहा और किसके साथ किसने प्रयोग किया था आपने किया था स्वामी जी आपने किया था क्या किया था मेरे को लंबी हिचकी आ रही थी थोड़े काल के लिए रुकी फिर शुरू हो हाँ जी बोलो दोनों प्रयोग करके देख हूँ क्या वो लंबी का पिताजी के साथ हुआ था हाँ वो तो रुकी नहीं अच्छा रोक वाली थी हाँ वो सामान्य रुक जाती है एक और बात है वो उनको प्राणायाम भी करना आता था या नहीं ये बात भी तो देखनी चाहिए नहीं समझे मेरी बात हाँ जी ये उसका परीक्षण है कि प्राणायाम पूरा करना आना चाहिए तब कहना जाए कि उसको नहीं रुकी थी आगे बात सुन उसको प्राणायाम नहीं करना आता प्राणायाम नहीं कर सकता और फिर कहें कि उसने एक बार सांस घोट लिया थोड़ा सा रोक दिया और वो नहीं रुकी ऐसा नहीं कह सकता ऐसा नहीं कहा जाता समझ में नहीं आया हो तो पूछ विभाजन विवेचन हो गया लंबे काल का रोग हो बड़ी भयंकर हो वो पूरा विधि पूर्वक प्राणायाम करने से रुकती है या नहीं रुकती ये तो परीक्षा कोटी है ठीक है और किसी को प्राणायाम ही नहीं करना आता हो और वो थोड़ा सा सांस बंद करके कहे कि नहीं रुकती ये भी नहीं मानना चाहिए समझ में आया प्राणायाम करना आता हो और सामान्य स्तर पर जो हिचकी आरंभ हो गई जैसे उसको तत्काल रोक दिया जाता हाँ जी बाह्य प्राणायाम करने से भी रुक सकती है या नहीं इसका प्रयोग मैंने करके नहीं देखा अभ्यांतर का देखा है इसके अंदर एक संभावना जिसको बोलते हैं वो कम दिखती है फिर भी प्रयोग के बिना अंतिम रूप नहीं बता सकते उत्पन्न होने का कारण क्या है ये प्राण के अंदर कोई दोष आ जाना प्राण के संचार में कोई दोष का आ जाना किस कारण से आया ये अलग है प्राण का अव्यवस्थित हो जाना तो कई बार भोजन करते हुए भी हो जाता है वो जब भी अव्यवस्थित होगा उसमें भी भोजन के कारण से प्राण अव्यवस्थित हो गया ग्रास लेने होता भी दूसरे प्रयोग प्राण लेने के एक प्राणायाम विधि पूर्वक है और दूसरे प्रयोग है प्राण को लेना और छोड़ना किन किन अवस्थाओं में कैसे लेना कैसे छोड़ना चाहिए ये भी प्रयोग क्या समझ में आया नहीं आया सामान्य श्वास प्रश्वास किन किन स्थितियों में कैसे लेना कैसे कैसे उसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर हम कर सकते हैं जैसे इसका प्रयोग किया गया ये जो वायु का रोग उभरता था तो वायु के रोग को रोकने के लिए एक तो आयुर्वेद की औषधियां चलती थी और एक भोजन का नियंत्रण जो अनुकूल होता था वो किया जाता था दो भाग और एक प्राण के लेने और छोड़ने की क्रिया की जाती थी ये तीसरा भाग इतने होते हुए उसको रोग को रोक दिया जाता था क्या समझ में आया इन तीन उपायों से वायु के रोग को रोक दिया जाता था यदि वो वायु के लेने छोड़ने का प्रयोग न होता एक स्थिति तो वो आयुर्वेद की औषधि से और केवल भोजन से नहीं रुकता इतनी उसमें कमी रहती उभार आता जैसे आयुर्वेद की औषधि भी ली भोजन भी ठीक और वो नौ दस बजे उभरने लगा अब ये उभरता उभरता उग्रता में आएगा रोग क्योंकि आयुर्वेद की औषधि का प्रयोग तो हो चुका भोजन भी उसके अनुरूप हो चुका है अब बात रह गई है कि क्या प्राण के माध्यम से इस वायु के रोग को कुछ रोका जा सकता प्राण की सहायता तो क्या किया वो जो वायु रुकता है नीचे नहीं आता दूषित वायु ऊपर को धक्का मारता उससे घबराहट होती और वो बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच जाता जहां पेट में मरोड़ उठने लगते वो रोग अब क्या किया उस प्राण को बाहर निकालना यहां ऊपर से नीचे से निकालना है तब रुकेगा वो तो सांस को लेना ऐसे और छोड़ना ऐसे लेते हैं सांस लेने के दो प्रकार हैं एक नाक से सांस लेते हैं सीधा ज्यो का त्यों वो हमारे शरीर के अनुकूल होता है जैसे मैं सांस लेता हूं नाक से ले लिया ये हमारे अनुकूल होता है और मैं पेट के कंठ के नाक के माध्यम से विशेष सांस को खींचता हूं वो इतना अनुकूल नहीं होता अब क्या समझ में आया ये थोड़ा समझ में नहीं आया स्वामी जी वाला पहले आ गया देखो पेट के आश्रय सहारे से कंठ और नाक के तीनों से संकेत लेके ये बलपूर्वक लिया जाता है नहीं पता चला नहीं चला विशेष प्रयास से लिया जाता है और तीन इसमें सहयोगी होते हैं पेट कंठ और नाक आया समझ में नहीं आया कभी याद रखना आपको यदि निकालना नहीं आए और ऐसे आप कई बार खींचते जाएं खींचते जाएं तो इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा क्या समझ में आया आया हो तो पूछो हाँ, जो निकालना जानता है वो यदि इसको इस रूप में भर लेवे तो उसको इतनी विधि आती है वो इसको निकाल डालेगा और जिसको निकालना नहीं आता वो भरता रहे इस विधि से तो उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा क्या समझ में आया हाँ जी राजेश जी नहीं आया समझ में कैसे बैठे हो ऊँग रहे हो क्या क्या समझ में आया सोच रहा था क्या ये सांस कैसे लेते हैं कुछ पता चला ये बढ़ता है और निकलता है बढ़ता है और निकलता है बढ़ता है और निकलता है समझे नहीं समझे जो श्वास भरते हैं वही श्वास बाहर निकलता है या अंदर नहीं दोनों का सम्मिश्रण होता है वहां जाके कौन सा कितना निकलता है ये जाता है और साथ लेके आता है और स्वयं भी निकलता है और रह भी जाता है क्या समझ में आया है नहीं आ समझ में इसी से आप और मैंने ये प्रयोग करना आरंभ कर दिया जब वो रोग उभरने लगा लेटे लेटे अब चलता रहा कालांतर में वायु कम होने लगा और तीन घंटे तक चला जैसे तीन तीन घंटे रात्रि में ग्यारह बजे चले आओ तो तीन बज गए हों जो उठने का समय होता है मेरा लगभग और <laughs> रोग रोग हो गया रात भर मतलब <clears throat> मैंने आशीष जी को बताया कि मैंने इस माध्यम से रोग को रोका उनका यह आविष्कार आपने किया मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं बताया मैंने स्वयं आविष्कार किया इसका और ऐसे बहुत बार रोकता रहा हूं यदि मैं ये प्रयोग नहीं करता तो रोग नहीं रुकता अर्थात इतना बाधा इतनी बाधा और डालता वो कितनी डालता है अलग उस दिन रात्रि में वो रोग उभरता ही और इसके माध्यम से नीचे से वायु निकलने लगा और ऊपर से निकलने लगा जब वायु निकलने लगा तो स्थिति ठीक होती गई ठीक होती गई और रोग रुक गया एक दिन तो तीन बज गए फिर भी नहीं हुआ काबू नहीं आया तो आपने कहा भाई सादर जी गाड़ी बुला लो जल्दी से नहीं तो परमात्मा दंड देगा आपको <laughs> क्या बात थी वडलूर गुरुकुल में हाँ तीन मिनट के सवेरे उठने का समय हो गया मैं सोता रहा हाँ। आपने कहा कि भाई अब कब मैंने कहा बहुत स्थिति खराब बोला हाँ, अब ऐसा है कि गाड़ी बुला दो हाँ। और नहीं तो बुद्धि और साधन देते हुए उनका उपयोग नहीं लिया तो परमात्मा हमको दंड देगा इसलिए शीघ्र चलो अहमदाबाद ना हैदराबाद <laughs> उसी समय गाड़ी बुलाई कर लेंगे यदि वो रोग अति उग्र हो और हम इसका प्रयोग करें तो नहीं भी रुकेगा क्या समझ में आया इसकी एक मात्रा है इतने स्तर का रोग रुक जाएगा और अति हो ना वो तो फिर इस क्रिया से नहीं भी रुकेगा स्वामी जी प्राणायाम के संदर्भ में एक ही नियम सभी लोगों के साथ एक जैसा लागू नहीं हो सकता ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कौन सा संदर्भ में प्राणायाम तो अलग विभाग है ये तो सांस लेने की विधियां हैं ये तो हम सांस कैसे कैसे लेते हैं और उस सांस को लेके कैसे निकालते हैं कैसे निकालना चाहिए और यदि उसमें ये भूल हो जाए तो प्राण भर जाएगा और वो निकालना जानता नहीं तो फिर कठिनाई उपस्थित हो जाएगी यदि निकालना जानता है ना वो वो व्यक्ति और प्राण भर गया किसी भी दिशा लेने भर गया वो साधारण स्थिति से नहीं निकल रहा उसने विशेष प्रयास किया उसके लिए उसको निकालने के लिए तो उसने तो निकाल दिया एक नया व्यक्ति हो उसको निकालना नहीं आता हो तो उसके लिए तो कठिनाई पड़ेगी इतना आपको पता चल गया जैसे हम सीधा सांस नाक से लेते हैं वो हमारे अनुकूल होता है ज्यो का त्यों जाता है ठीक कार्य होता रहता है कोई बाधा नहीं पड़ती पर यह सांस लिया जाता है बलपूर्वक पेट के और कंठ के नाक के आधार आश्रय से ये प्राण ग्रहण किया जाता है यत्न पूर्वक और ये हमारे अंदर जाके ज्यो का त्यों पच नहीं जाता पचन नहीं होता इसका ज्यो का त्यों कुछ अंश होता हो यह अलग बात आया समझ में पता तो चल गया या और करके दिखाऊं पेट से कंठ और नाक से दो स्थितियां नाक से ही लेना और नाक से ही छोड़ना और जब अधिक प्रबल हो जाए तो नाक से लेना और मुंह से छोड़ना पड़ता है अब क्या समझ में आया बताइए नहीं समझ में आया हो तो आगे नाक से ही हाँ जी क्या है एक तो मैंने बताया ना वो जो रोग उभर रहा था वायु के कारण उसे क्या हुआ कि नीचे को वायु निकलने लगा और ऊपर को भी निकलने लगा तो वायु के कारण से जो रोग की उत्पत्ति हो रही थी वो रुक गई जो तो आपके लिए हुआ इस क्रिया का हमारे लिए क्या उपयोग मैं बताता हूँ यदि आप पेट में वायु भर गया हो भरी जाता है उस समय का प्रयोग कर सकते हैं पेट में वायु भर गया दुख रहा है कुछ समझ में आया मरोड़ जैसी स्थिति मरोड़ जैसी स्थिति आती है उसमें का उपयोग होगा रोग और कुछ नहीं है वायु रुक गया मरोड़ होने लगी तो उसमें हो जाएगा और पेट में वायु भरता है और दर्द होता है किन्हीं कारणों से आप प्राणायाम करना आरंभ कर देंगे कल्पना कीजिए और आप पंद्रह मिनट जितना वो जो दर्द उभरने लगा था और वो दर्द हुआ वायु के वो दर्द भी समाप्त और वायु भी निकल जाएगा ये प्राणायाम से हो जाएगा इसके प्रयोग करके देखे गए शौच के लिए गए और दर्द है पेट में वायु रुका हुआ है हमने जान लिया और प्राणायाम करना आरंभ कर दिया लंबे काल तक करते रहे धीरे धीरे धीरे धीरे न तो रहा और न प्राण अंदर रुका रहा प्राणायाम करते गए ये मुझे याद नहीं बहुत लंबा काल हो गया है जिसमें मैं प्राणायाम करता था ना और ऐसी स्थिति आती थी वायु भरने की और उससे जो सो दर्द भी समाप्त और वो वायु भी समाप्त ऊपर से निकलेगा या नीचे से निकलेगा अधिकतर तो अभ्यंत प्राणायाम का प्रयोग इसमें होता है अधिकतर ऐसे से उथल पुथल भी बहुत होती है पहले पहले और प्राणायाम करने से धीरे धीरे स्थिति भी ऐसी बन जाती है कि अधिकार पूर्वक व्यक्ति मन को रोक देता सामान्य सांस चलता है ना व्यक्ति का इसमें स्तंभ वृत्ति प्राणायाम एकदम काम देता है क्या समझ में आया सामान्य श्वास चलने की तरंगे चलती रहती है वो रुकती नहीं है नहीं रुकती हाथ से निकल गई जैसे झट प्राण को रोक दिया उसने ज्यो का त्यों रोक दिया तो वो सूक्ष्म तरंगे चलती थी हम जिनको नहीं चाहते थे वो नहीं रोक उठ पाएंगी प्राण के रोकते ही स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कुछ समझ में आ गया प्राणायाम के विषय में या नहीं आया हाँ, एक शंका है जैसे आपने बताया थे बताए थे कि एक विषय में मन को लगाना है तो स्तम वृत्ति करके केवल ओम नाम का उच्चारण करते रहे हम्म। और अन्य कोई विषय न उठाए हम्म। ओम ओम ही बोलते रहे अहर निश्चलता रहे अर्थात जब तक करते रहे तब तक सिर्फ ओम का ही उच्चारण करते रहे हम्म। अन्य विषय में न लगाए हाँ। तो क्या यह मन का रोकना कहा जाएगा तो वो रुक रहा है आपका ओम और अर्थ भी सर्वरक्षक है अन्य विषय नहीं आ रहा तो रुक गया मन मध्य में अन्य विषय नहीं उठने दे रहे आप नहीं आ रहा यही चल रहा तो रुक गया मन कभी कभी सूक्ष्म रूप में विषय आता है उसको व्यक्ति पकड़ नहीं पाता और ये मान लेता है मेरा मन रुक रहा है अब क्या समझ में आया दोहराओ क्या समझ में आया सूक्ष्म स्वरूप में भीतर भीतर वृत्तियां उठाता रहता है और साथ साथ जब जब भी चलता रहता है और यह मानता है कि मैं मेरा मन रुका हुआ है मैंने नितांत मन को रोक दिया वो व्यक्ति ये मानता है ये भूल न हो जाए कुछ समझ में आई तीव्र रूप में तीव्र इच्छा में जो विचार उभरते हैं उनको व्यक्ति पकड़ लेता है मंद रूप में अति मंद रूप में जो विचार उभारे जाते हैं उनको पराय व्यक्ति नहीं पकड़ पाता बिना पूर्ण ईश्वर समर्पण हुए संभव ही नहीं हो ऐसा कुछ समझ में आया था प्रयास करते करते व्यक्ति यहां पर पहुंच जाता है मैं जीवात्मा अब विचारना चाहूंगा तो विचारूंगा नहीं तो नहीं नहीं विचारता यहां पर पहुंच जाता है संदीप जी क्या समझ में आया जो पहुंच जाता है जब वो विचारना चाहता है तो बुद्धिपूर्वक अब मैं विचारना नहीं चाहता नहीं विचारूंगा नहीं विचारना अब विचारना चाहता हूं अब विचारूंगा आप कोई भी कहा जाए ऐसा करके देखो तो बड़ी कठिनाई पड़ेगी या नहीं पड़ेगी आप प्रयोग करके देख लो जब कोई विषय दे दिया जाएगा तब तो आपको सरल लगेगा ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद इस पर मन लगाइए आप ओम सच्चिदानंद और अर्थ को विचार कर अर्थ का विचार भी करिए तो ये उसकी अपेक्षा रोकना सरल है और ओम सत्यदान को बंद करो किसी भी विषय में नहीं विचारना ऐसा बनाओ अपने आप को ये उससे बहुत कठिन है साधक जी कुछ समझ में आ रहा है है हाँ जी अभ्यास कर रहा था आपने जो बात बताई उसका अभ्यास कर रहा था बड़ी विचित्र बात है एक मन नाम की चीज और व्यक्ति को जीवन भर नचाती है और वो नाचता रहता कठपुतली की तरह और नाचता नाचता मर जाता है बताओ क्या जीवन है <laughs> कोई बात हुई है कोई बात ही नहीं कोई कारण नहीं बिना कारण के खाम खा नाचता नाचता मर जाता है या नहीं होता ऐसा जीवन भर मन के अधीन इंद्रियों के अधीन होकर के व्यक्ति अति दुखी पीड़ा का अनुभव करता रहता है बंधन का अनुभव करता रहता है बुराई होती जा रही है बुराई रुक पा नहीं है नहीं रुक पा रही और दुख कलेश नहीं रुक पा रहे और विवश होके सोचता है किन्हीं विषयों में वो रोक ही नहीं पाता न सोचो इस विषय को नहीं एक बार किसी का भयंकर अपमान हो गया आरोप लगा दिया मिथ्या आरोप लगा दिया और उसका प्रचार फैल गया जो कि नहीं जाना चाहिए था और उसमें इसका दोष लेश मात्र नहीं अब वो चक्कर बन गया उसका कि ऐसा क्यों हुआ ये लोगों ने ऐसा आरोप क्यों लगा दिया इन मान क्यों लिया किसी को अब वो चाहता न बेचारू अब सारा जोर लगाएगा वो फिर भी नहीं रोक सकता क्या समझ में आया चाहते हुए भी व्यक्ति रोक नहीं पाता है चाहते हुए भी वह व्यक्ति रोक नहीं पाता उन विचारों को जीवन भर ऐसा चलता मन के अधीन इंद्रियों के अधीन चक्कर में पड़ा रहता है आप परीक्षण करके देखेंगे कि हम नहीं चाहते कि ये विचार आए हम नहीं चाहते किसी में राग द्वेष हो हम नहीं चाहते कि विषय भोगों में हमारी रुचि हो हम नहीं चाहते कि किसी के साथ हम विरोध कुछ करें पर वो हो रहा है बार नहीं हो रहा है मानसिक स्तर पर हो रहा है अनुभव करके देखो प्रयोग करके देखो आपको पता चल जाएगा कि वास्तविकता यही है व्यक्ति के जीवन की आप ये देखना चाहें हम मन को अपने अधीन बना के चलाने वाले लोग दुनिया में कितने हैं तो करोड़ में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको मूल में भूल क्या चल रही है जीवात्मा अपने स्वरूप को ठीक नहीं समझ पाया जीवात्मा मन इंद्रियों के स्वरूप को ठीक नहीं समझ पाया जीवात्मा ईश्वर के स्वरूप को ठीक नहीं समझ पाया ये मूल में भूल जो चल रही है उसके इससे वो ऐसा पराधीन हुआ है लंबी बात करो तो सारी चीजें आती रहेंगी इन्हें जब ये पता चल जाए मैं ही विचारता हूँ अच्छा बुरा मैं ही सोचता हूँ मैं ही काम करो तो लोभ को उठाता हूँ अब ये क्या बात है कि वो खाम खा उठता रहे काम तो लोभ मो अविद्या उत्पन्न होती रहे राम को नचाती रहे वो ये क्या मतलब है कुछ भी नहीं और विचित्रता ये ये स्वयं अविद्या को उत्पन्न करता है स्वयं अविद्या का प्रयोग करता है स्वयं अधर्माचरण में गिर जाता है और फिर दुखी रहता है और भूल ये करता है कि मन ने ऐसा कर दिया इंद्रियों ने ऐसा कर दिया शरीर से ऐसा हो गया सत्वर से तम गुण से ऐसा हो गया इसको मानता चलता रहता जैसे जैसे व्यक्ति अपने विषय में अच्छे प्रकार से समझता जाएगा जैसे जैसे व्यक्ति सत्वर तमसाम साम्यवस्था प्रकृति उसे महत्व से लेकर पृथ्वी तक आ गई सारी विकृति को ऐसा चौबीस विकृतियां वह प्रकृति को लेकर इनको भी अच्छी तरह समझता जाएगा फिर वो ईश्वर को ही जैसा है वैसा समझता जाएगा तो ये स्थिति उसके दिमाग में आ जाएगी कि वास्तव में मैं जीवात्मा सारी रूपरेखा सारी हलचल सारी रीति सारा करना धरना ज्ञान के कर्म के उपासना के क्षेत्र मैं करता हूं और कोई करने वाला नहीं न ईश्वर करने वाला है इन कामों को न इंद्रिया न मन न बुद्धि न शरीर कोई करने वाला नहीं है वो इस परिणाम पर पहुंच गया जब इस परिणाम पर पहुंच गया तो अपने आप को रोकना सरल हो गया आप ऐसे रुक के खड़े होके देखो पता नहीं कोई धक्का दे रहा जैसे ऐसे ऐसे विचार आएंगे आपको करके देख लो मैं आपसे ये कहूंगा थोड़ी देर आप बिल्कुल रुक के देखो अच्छा करके देखो थोड़ी देर कि भाई कुछ नहीं विचारना कुछ भी नहीं विचारना ध्यान से देख मैंने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है या बना देता हूं कुछ भी नहीं विचारूंगा मैं मैंने विचारों को रोक रखा ये मेरा ज्ञान रहेगा कोई बताएगा कि क्या अनुभूति हुई हाँ जी बोलिए कुछ प्रमाण वृत्तियों की अनुभूति हुई वरना मन को रोकने का अभ्यास किया था जैसे नितांत रुक जाने की स्थिति किसी विषय में नहीं चलाना किसी भी विषय में नहीं उठाना कुछ भी ऐसी हुई या नहीं हुई नहीं हुई शब्द प्रमाण वो तो अनुभव होगा आपको जब सभी विशेष रोक दोगे आप तो अनुभूति होगी आपको हाँ सब विषयों से रुक गया है और जब आप रोक के देखेंगे ना जैसे रोके झट पीछे उठ जाएगा जब आप रोक करके खड़े हो गए ना एक जगह कि अब मैं रोक रहा हूँ और वो रोक रहा हूँ जब आप इस बात को करें उसी से मैं विषय उठ गया फिर आपने हटाया उसको फिर रोक दिया फिर कहेंगे अब नहीं चलाना नहीं चलाना और दूसरे क्षण में फिर वो विषय उठ गया ऐसी स्थिति आएगी या नहीं आएगी अब विराम